पहला प्रश्न भगवान आखिर आप कहते वही है जो आपको कहना है फिर इतर बुद्धों की खूंटी का सहारा क्यों लेते अपनी बात सीधी ही हमसे क्यों नहीं कहते हमें उलझाते क्यों पूछा है स्वभाव ने बहुत सी बातें समझनी होंगी पहली बात सो तो यह हजरत प्यार है प्यार को प्रश्न मत बनाओ बुद्धों से लगाव है लगाव के लिए कोई उत्तर नहीं जैसे तुम्हें कोई स्त्री पसंद आ जाए मन भा जाए कहो कि सुंदर है बहुत सुंदर है सिद्ध ना कर सकोगे प्रेम तर्क से कुछ गहरा है कोई पूछेगा क्यों प्रेम करते हो उत्तर न दे सकोगे जहां तक प्रश्न और उत्तर जाते हैं उससे आगे की बात है बुद्धों से मुझे लगाव है जब संसार से लगाव हट जाता है तो लगाव मिट थोड़ी जाता है लगाव मिटेगा कैसे लगाव तो जीवन की ऊर्जा है संसार से हटता है तो बुद्धों पर लग जाता है बाजार से हटता है तो मंदिर में खिल जाता है कम वासना से मुक्त होता है करुणा बन जाता है लगाव जाने वाला नहीं है तुम्हारे जीवन का स्वभाव है ऐसा ही समझो कि नीचे की मंजिल पर नल लगा हो टोटी बंद कर दो तो ऊपर के मंजिल पे पानी चढ़ जाता है नीचे की मंजिल की टोटी खोल दो ऊपर के पानी का मंजिल ऊपर की मंजिल का पानी बंद हो जाता है वस्तुओं से लगा है अभी तुम्हें तो चैतन्य का दर्शन नहीं हुआ अभी बाहर बाहर भटकता है तुम्हारा लगाव अभी अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई जब होगी तब तुम समझोगे फिर तुम बुद्धों के प्रेम में जीते हो उन बुद्धों के जो हुए उन बुद्धों के जो हैं उन बुद्धों के जो होंगे कठिन है उनको समझाना जिनकी नजर अभी धन पद यश में लगी है कठिन है उनको समझाना जिनकी नजर अभी बाहर भटक रही है वस्तुओं से उलझी लेकिन एक बार तुम्हें कहीं से भी बुद्धों की झलक मिल जाए किसी के द्वारा भी मिल जाए उसी को तो हम गुरु कहते हैं जिसके माध्यम से बुद्धों की श्रृंखला तुम्हारे लिए खुल जाए गुरु तुम्हें अपने से थोड़ी जोड़ता है बुद्धों से जोड़ देता है गुरु तुम्हें उस महाश्रृंखला से जोड़ देता है जो जागृत पुरुषों की है उस दीप मालिका से जहाँ बुद्ध का दिया जलता महावीर का कृष्ण का क्राइस्ट का जर्थोस्त्र का लाउसु का ये पंक्ति दियो की बड़ी प्यारी है इन सभी दियो में ज्योति एक है पर सभी दियो के ढंग अलग है हर दिए का रंग अलग है शैली अलग है अंदाज अलग है अंदाज भी बड़े प्यारे हैं लाउसू को समझो बड़ा प्यारा अंदाज फिर कोई दूसरा उस अंदाज को ना पा सका अगर मैं तुम्हें अपने पर सीमित रखूं तो तुम्हें दीन बनाऊंगा मेरा अपना अंदाज है रोशनी वही है मेरा अपना दिया है पर और भी दिए हुए हैं और भी हैं सुखनवर बहुत अच्छे मैं तुम्हें अपने पर नहीं रोकना चाहता मैं तुम्हारे लिए द्वार बनू दीवार न बनू तुम मुझसे प्रवेश करो मुझ पर रुको मत तुम मुझसे छलांग लो तुम उड़ो आकाश में मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं तुम्हें बांध नहीं लेना चाहता इसलिए तुम्हें सारे बुद्धों का आकाश देता हूं तुम कहते हो उलझन होती है जानता हूं जिनको पिंजरों में रहने की आदत हो गई खुले आकाश को देख के बड़ी घबराहट होगी कहा जाए अब तक घर था ठिकाना था बंधी सिंचे की सीमा थी खुला आकाश भयाक्रांत कर देगा इतनी दिशाएं कैसे चुने कहा जाए और कहीं उत्तर गए तो पछतावा रहेगा कि दक्षिण क्यों न गए पता नहीं दक्षिण में ही सोने की खदाने होती हो दक्षिण गए तो मन पछताता रहेगा पूरब क्यों न गए जहां से उगता था सूरज शायद वहीं सब छिपा हो पूरब गए तो मन कहता रहेगा पश्चिम क्यों न गए जहां सूरज जा रहा है रोज तो अकारण तो न जाता होगा पिंजले में बंद पक्षी को ये सब अड़चने नहीं है कारागृह में पड़े आदमी को ये सब उलझने नहीं है न निर्णय लेना है न किसी तरफ जाने की हिम्मत जुटानी है न कोई कदम उठाना है घूम लेता है अपने पिंजरे में सभी दिशाओं में हाथ पैर मार लेता है दिशाएं है ही नहीं वह तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अपने पे सीमित रखूंगा मैं ना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि तुम मेरे कारण मुक्त बनो पहले भी लोग और बुद्ध पुरुषों पर बोले लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कभी नहीं कोई बोला महावीर अगर बोले हैं तो कृष्ण पर नहीं बोले पार्श पर बोले नेमी पर बोले ऋषभ पर बोले जैनों के तीर्थंकरों पर बोले उत्तर पर ही बोले फिर दक्षिण पर तो नहीं बोले माना कि अपने पर नहीं रोका लेकिन अपनी दिशा पर रोका है कारक ग्रह तोड़ा लेकिन पूरा आकाश तुम्हें नहीं दे दिया है जैन धारा के बाहर न गए बुद्ध भी बोले अपने से पहले बुद्ध पुरुषों पर बोले लेकिन बौद्ध धारा से इंच भर आते नहीं तो अड़चन नहीं है बातें सीधी साफ है उलझन खड़ी नहीं होती कृष्ण भी बोले मगर हिंदू धारा के बाहर नहीं गए जीसस ने भी कहा है कि मैं पुराने पैगंबरों को पूरा करने आया हूं मैं पिछले समय में दी गई व्यवस्थाओं को तोड़ने नहीं आया उन्हें भरने आया हूं लेकिन वो व्यवस्थाएं मूसा की है इजकील की है यहूदी परंपरा की है जीसस इंच भर उस परंपरा से यहां वहां न गए दिशाएं दी उन्होंने मैं तुम्हें आकाश दे रहा हूं इसलिए तुम्हारी उलझन में समझ सकता हूं तुम्हारी अड़चन में नहीं समझता ऐसा नहीं है खूब समझता हूं सोच समझ के ही पूरा आकाश दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है पिंजरों ने तो बांधा ही दिशाओं ने भी बांध लिया जैन फिर जैन से आबद्ध हो गए मेरे देखे मनुष्य इस भांति दरिद्र हुआ उसकी महिमा घटी क्योंकि वो औरों को आत्मसात न कर सका कृष्ण को चूका जो जैन हुआ जो हिंदू हुआ वो महावीर से वंचित हुआ सक्री गली हो गई पहुंचाती है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं राह को भी विराट क्यों ना बनाओ और कभी कभी मुझे लगता है गली अगर इतनी सक्रिय है तो तुम जहां पहुंचोगे वो कोई बहुत बड़ा विराट नहीं हो सकता क्योंकि साधन साध्य को निर्णित करते हैं मार्ग मंजिल को बनाता है अगर तुम सक्रिय में जीने के आदि हो गए और जियोगे तो मार्ग पर न मालूम कितने जन्मों तक तो तुम्हारी आंखें ही संकीर्ण हो जाएं, तुम्हारी आत्मा ही कहीं दिशा न ले ले ले लेती है जैन यही रहे कृष्ण का मंदिर पड़ोस में लेकिन उनके कानों में कृष्ण मंदिर की घंटियां नहीं गूंजी नहीं गूंज सकती उस तरफ कान बंद कृष्ण की बांसुरी बजती रही है लेकिन उन्हें ऐसा ही लगा कि नींद में खलल है कोलाहल है वो कभी उस बांसुरी के स्वर को सुनने ना गए डरे रहे कहीं ये बांसुरी का स्वर उन्हें भटका ना दे ये कहीं महावीर के मार्ग से च्युत न कर दे मैं तुम्हारे सारे बंधन तोड़ रहा हूं इसलिए मेरे साथ तो अगर बहुत हिम्मत हो तो ही चल पाओगे अगर कमजोर हो तो किसी काराग्रह को पकड़ो मेरे पास मत आओ लेकिन तुम्हारे कारण मैं संकीर्ण न दूंगा मैं विराट ही दूंगा जो ले सकेंगे उन्हीं को दूंगा मैं तुम्हें इस योग बनाऊंगा तुम्हें तोड़ूंगा तुम्हें तरल करूंगा इस योग बनाऊंगा कि तुम फैल सको सभी दिशाओं में तुम उड़ सको खुले आकाश में वस्तुतः मैं तुम्हें कहीं ले जाना नहीं चाहता उड़ना सिखाना चाहता ले जाने की बात ही ओछी है मैं तुमसे कहता हूं तुम पहुंचे हुए हो जरा परों को तोलो जरा तूफानों में उठो जरा आंधियों के साथ खेलो जरा खुले आकाश का आनंद लो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सिद्धि कहीं भविष्य में अगर तुम उड़ सको तो अभी यही है मैं चाहता हूं कि मंदिर से उठती घंटियों की आवाज में तुम्हें मस्जिद की अजान भी सुनाई पड़े कैसा दरिद्र हो गया आदमी मस्जिद मंदिर को बांट लिया कैसा दरिद्र हो गया आदमी अपनी धरोहर को बांट लिया कोई जरूरत न थी सब तुम्हारे हैं तुम सबके हो तमीज एक कुफर ईमा मिट चुकी है अर्श अब दिल से सदा नाकूस की कानों में आती है अजा होकर अब कौन है काफिर और कौन है मुसलमान ये भेद गिर गया सदा नाकूस की कानों में आती है अजा होकर मंदिर से संख की आवाज उठती है अजान सुनाई पड़ती है तुम्हें पिघलाना चाहता हूं तुम्हें धनी बनाना चाहता हूं निश्चित ही गरीब आदमी उतनी उलझन में नहीं होता ये मुझे पता है उलझन होने योग्य कुछ नहीं है बैठे हैं अपनी झोपड़ी में एक दिन का खाना मांग लाए हैं भिक्षा पात्र है वही है रात का कंबल वही है दिन का वस्त्र वही है बिस्तर वही है ओढ़नी उलझन क्या है जैसे जैसे तुम धनी होते हो उलझन बढ़ती है कहा सुन क्या ओढ़े इतना कुछ है चुनाव का सवाल उठता है और यही बात अंतर जीवन के संबंध में भी सही है आदमी दीन रहने में सुविधा पाता है मैं तुमसे कहता हूं तुम दरिद्र रहना चाहते हो क्योंकि दरिद्र रहने में उलझन खड़ी नहीं होती एक तरह की शांति होती चुनाव का उपाय ही नहीं है उलझन ही नहीं है जो है वो है उतना ही है लेकिन जैसे जैसे तुम धनी होते हो वैसे वैसे बड़ी कठिनाई आती है मगर मैं तुमसे कहता हूं कठिनाई का मुकाबला करने से ही मनुष्य निर्मित होता है जितनी चोट पड़ती है उतनी जाग आती है जितने तार तुम्हारे छेड़े जाएंगे उतना संगीत निकलेगा जितनी छेनी तुम पर पड़ेगी उतना ही रूप प्रकट होगा गरीब रहना चाहते हो सुलझाव के हिसाब से कहते हो एक बात बता दो वही पकड़ ले उलझाओ मत एक बात पकड़ लेना सदा आसान है चुनाव ही नहीं हो तो चैतन्य की जरूरत ही नहीं होती मूर्छित भी पकड़ लेता है एक बात इसलिए तो जो एक एक बात पकड़े हैं मूर्छित रह गए हिंदू बेहोश है मुसलमान बेहोश जैन बेहोश चले जाते हैं रो में बहे जाते हैं भीड़ के धक्के खे वहां चले जाते हैं जहां भीड़ जा रही वे भी चले जा रहे हैं एकांत में अकेले चलने में घबराहट होती है क्योंकि फिर कदम कदम पर चुनाव है और कदम कदम पर निर्णय लेना है और कदम कदम पर होश रखना है इसलिए तो लोग दूसरों का अनुसरण करते अपनी झंझट टली किसी का भी पकड़ लिया पीछा एक दफा मान लिया कि ठीक जा रहा होगा चल पड़े हम तो निश्चिंत हुए ध्यान रखना तुम जिन्हें नेता कहते हो वो निश्चिंत हैं क्योंकि पीछे बहुत लोग उनका दामन पकड़े हुए वो निश्चिंत हैं जब इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं तो जरूर मैं ठीक ही चल रहा होगा अन्यथा कौन किसके पीछे चलता है पीछे चलने वाले सोच रहे हैं कि जब नेता इतना निश्चिंत चल रहा है तो निश्चित जानता होगा कहा जा रहा है ऐसा लेन देन है अकेले चलने में तुम भी डरते हो तुम्हारा नेता भी डरता है इसलिए तो व्यक्तित्व को पाना बड़ा दुभर मालूम होता है व्यक्तित्व पाने का अर्थ है पगडंडी राजपथ नहीं और मैं तो तुम्हें पगडंडी भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि आकाश में पगडंडियां भी नहीं होती पक्षी उड़ जाते हैं पैरों के चिन्ह भी नहीं छूटते किसी को पीछे अनुसरण करने का उपाय भी नहीं बचता आकाश कोरा का कोरा रह जाता है यहाँ पथ बनते ही नहीं पूछा है आखिर आप वही कहते हैं जो आपको कहना है अन्यथा तो कह भी कैसे सकता हूं वही कहता हूं जो मुझे कहना है ठीक होगा इस तरह सोचना कि वही कहता हूं जो मुझसे कहा जाता है कहना कुछ ठीक नहीं क्योंकि कहने में तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ तय किए बैठा वही कहना है जो मुझे कहना है नहीं वही कहता हूं जो कहा जाता है वही कहता हूं जो परमात्मा कहला रहा है काम जो तुमने कराया कर गया जो कुछ कहाया कह गया यह कथानक था तुम्हारा और तुमने पात्र भी सब चुन लिए थे किंतु उनमें थे बहुत से जो अलग ही टेक अपनी धुन लिए थे और अपने आप को अर्पण किया मैंने की जो चाहो बना दो काम जो तुमने कराया कर गया जो कुछ कहाया कह गया मैं कुछ कहना चाहता हूं ऐसा भी नहीं है जो परमात्मा कहला रहा है वो कह रहा हूं अपने को मैंने हटा लिया है यही मेरा होना है और इसको इस तरह से हटा लिया है कि अब ये बांसुरी किसी के भी ओंठों पर रखी जा सकती है ये कृष्ण के ओंठों पर रख दो तो गीता के स्वर उठने लगेंगे इसे तुम बुद्ध के ओंठों पर रख दो तो इस धम्मो सनंतरा इस बांसुरी का अपना कोई आग्रह नहीं ये बस बांस की पोंगरी है ये बस खाली है इसलिए कोई भी स्वर इससे उतरना चाहे तो मुक्त है और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये बांसुरी है तुम जितने ज्यादा स्वर सुन लो उतना अच्छा तुम उतने धनी हो जाओगे तुम कहते हो आपको जो कहना हो वही कहते वही होगा स्वर बांसुरी के ही रहेंगे स्वर में बांसुरीपन रहेगा बांसुरी से वीणा के स्वर ना उठेंगे लेकिन बांसुरी जब कृष्ण के ओठों पे होगी तो कुछ बांसुरीपन में भी कुछ और जुड़ जाएगा बुद्ध के ओठों पे होगी तो कुछ और जुड़ जाएगा मैं तुम्हें धनी बनाना चाहता हूं मैं निर्धनता का पक्षपाती नहीं मैं तो निर्धनता का पक्षपाती तभी हूं जब निर्धनता भी तुम्हारा धन हो मैंने सुना है सूफी फकीर हुआ इब्राहिम वो बल्ख का बादशाह था कभी फिर उसने छोड़ दिया राजपाट फिर वो फकीर हो गया पहले ही रात एक दरगाह में रुका वहां एक दूसरा फकीर भी था सांझ दोनों प्रार्थना करने बैठे वो दूसरा फकीर जोर जोर से कहने लगा परमात्मा तेरी प्रार्थना करते करते कितने दिन हो गए कब तक गरीब रखेगा कब तक और ये दीन था दरिद्र था कब तक ये और गरीबी इब्राहिम हंसने लगा उस फकीर ने पूछा हंसते हो बात क्या है इब्राहिम ने कहा मालूम होता है गरीबी तूने सस्ती पा ली मुफ्त मिल गई मालूम होता है कुछ चुकाया नहीं मालूम होता अरे पागल हम पूरा साम्राज्य दे के गरीबी लिए बड़ी महंगी पाई है हम यही प्रार्थना करते हैं ऐसा ही बनाए रखना तुम समझो मैं गरीबी का पक्षपाती हूं तब जब तुमने उसे कमाया हो तब गरीबी बड़ी अमीरी है मैं तुम्हारी शून्यता का पक्ष पाती हूं लेकिन तभी जब पूर्णता के मार्ग पर शून्यता उतरी हो मैं तुम्हारे जीवन को निर्धन नहीं देखना चाहता निर्धनता भी धन होती तभी निर्धनता भी जब परम सौभाग्य होती तभी मैं तुम्हें भरे हुए देखना चाहता हूं अगर मैं शून्यता की बात भी कहता हूं तो सिर्फ इसलिए कि शून्यता जितना भरती हो उतना कुछ और नहीं भरता वो बड़ा भराव है वो आखिरी भराव है उसके ऊपर फिर कुछ और भरने को बचता नहीं सुनी प्याली को गौर से देखना भरी प्याली से ज्यादा भरी होती पानी भर दो कितना ही भर दो फिर भी कुछ खाली होती पानी और प्याली के बीच में थोड़ी जगह तो होगी नहीं तो पानी प्याली हो जाएगा प्याली पानी हो जाएगी थोड़ा अवकाश तो होगा फासला तो होगा और कितना ही पानी भरा हो एक बूंद और भी भरा जा सकता है सुना है मैंने नानक एक गांव के बाहर मेहमान हुए गांव फकीरों का था सूफियों का था वो बड़े चिंतित हो गए फकीर ना रहे होंगे अन्यथा आनंदित होते चिंता की क्या बात थी जो फकीरों में प्रमुख था उसने सांकेतिक रूप से संदेश भेजा उसने अपने शिष्य के हाथ में पानी से भरी हुई एक प्याली भेजी लबालब भरी थी एक बूंदी रखने को जगह ना थी नानक बैठे थे सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पाठ पर मर्दाना धुन छेड़ रहा था नानक ने कहा मर्दाना जाके एक फूल तोड़ ला वो फूल तोड़ लाया उसकी कुछ समझ में ना आया वो जो सेवक आया था फकीर का प्याले लिए खड़ा था नानक ने वो फूल उसमें तैरा दिया कहा वापस ले जा मर्दाना कहने लगा बात क्या हुई कुछ समझे नहीं बड़ा लेन देन हो गया ये क्या चल रहा है ये फकीर का आना ये भरी हुई प्याली लाना मतलब क्या है फिर तुम्हारा ये फूल का चेहरा लेना नानक ने कहा गांव में जो फकीरों का प्रमुख है चिंतित हो गया है सोचता है कोई प्रतियोगी आ गया ये फकीर नहीं है दुकानदार है तो उसने प्याली भर के भेजी उसने कहा यहाँ फकीर बहुत है जगह बिल्कुल नहीं आप कहीं और जाए डेरा उठाए इस मैंने इसमें ये जंगली फूल डाल दिया ये कहा है कि हम तो यहाँ फूल की तरह तैरे रहेंगे तुम घबराओ मत और प्याली में इतनी जगह तो है कि एक फूल तैर जाए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि प्याली भरी हो तो कितनी ही भरी हो एक फूल को तैरने की जगह तो बाकी है ही भरी चीजें खाली रहती ही है फिर प्याली बिल्कुल खाली है तब शून्य पूरा भरा होता है क्योंकि तुम शून्य को पहचानते नहीं क्योंकि तुम्हें शून्य दिखाई ही नहीं पड़ता तुम कहते हो प्याली खाली अगर तुम जानते तो तुम कहते अब प्याली आकाश से भरी शून्य से भरी है इस दशा को ही बुद्ध ने अनत्ता कहा है बुद्ध ने कहा आत्मा आत्मा आत्मा मैं मैं मैं तुम ज्यादा ना भर सकोगे तुम खाली रहोगे छोड़ो जी मैं जाने दो तुम खाली हो रहो अनत्ता अनात्मा तुम शून्य से भरो फिर भराव ऐसा है फूल भी न तैराया जा सकेगा फिर भराव पूरा है फिर उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता परिपूर्ण है तो मैं तो एक खाली बांस की पोंगरी हूं इसे मैं बहुत ओठों पर रखता हूं तुम सुन लो सारा अतीत उसकी सारी संपदा तुम्हें लौटा देना चाहता हूं और सारा भविष्य भी तुम्हारी झोली में डाल देना चाहता हूं लेकिन तुम ऐसे कंगाल हो कि तुम कहते हो क्या उलझन बढ़ा रहे हैं आप तो सीधी सीधी बात कहते तुम बड़ी जल्दी में मालूम पड़ते हो तुम्हें तो मिले कुछ झपट्टा मारो और घर जाओ ऐसी कुछ हालत है कि जल्दी से कब्जा कर लो तिजोड़ी में बंद करो मैं तुम्हें ऐसा सौभाग्य देना चाहता हूं जो किन्हीं तिजोड़ियों में बंद ना किया जा सके तुम छोटी मोटी कुछ जीवन धारा बनाने आए हो मैं तुम्हें सागर बनाना चाहता हूं तुम सीमा के बिना जीने के आदि नहीं हो मैं तुम्हें असीम में ले चलना चाहता हूँ मैं जानता हूं तुम कुछ और कारण से आए हो मैं कहीं और तुम्हें ले चला यही गुरु और शिष्य के बीच का द्वंद है संघर्ष है युद्ध है शिष्य आया था कुछ और ख्याल से गुरु कहीं और ले चला तुम आए थे कुछ पाने यहां मैं तुमसे छीनने लगा तुम आए थे कुछ और पाने यहां मैं कुछ और तुम्हें देने लगा एक दूसरे मित्र ने पूछा है विश्रांति चाहिए आप तो कुछ ऐसी बात बता दें कि शांति हो जाए तुम किनारा मांगते हो हम तुम्हें तूफान सिखाने लगे तुम किनारे के लो लो फौजल के किनारा मिल जाए और हम तुमसे कहने लगे किनारा यहां है ही नहीं मझधार को किनारा समझो है ही नहीं करें भी क्या ये किनारे पाने की आकांक्षा ही तुम्हारा जीवन अशांत बनाए जिस कारण से तुम अशांत हो उसको समझो किनारा पाने की आकांक्षा अशांत बनाए क्योंकि किनारा है नहीं अशांत तुम रहोगे अब तुम कहते हो हमें जल्दी से शांत कर दे तुम मूल कारण को मिटाना नहीं चाहते हटाना नहीं चाहते तुम कुछ सस्ते उपाय कर लेना चाहते हो उसी दिन शांत हो पाओगे जिस दिन अशांति का कारण हट जाएगा तुम शांत होना चाहते हो अशांति के कारण को नहीं हटाना चाहते वस्तुतः तुम्हारी शांति की आकांक्षा अशांति के कारण से ही आविर्भूत हो रही है ये धुआं जो अशांति का उठ रहा है और ये आकांक्षा जो शांति की उठ रही है ये एक ही ईंधन से उठ रहे हैं इनमें भेद नहीं है से किसी ने पूछा एक शिष्य ने कि मुझे शांत होना है मुझे शांत होने का मार्ग बता दे कंफ्यूज का बकवास बंद मर के तू शांत हो ही जाएगा अभी इतनी जल्दी क्या है अभी तो जी ले फिर कब्र में तो शांत हो ही जाएगा इतनी जल्दी क्या है अभी ठीक से जी ले नहीं तो कब्र में भी शांत ना हो पाएगा क्योंकि वहां यह अशांति रहेगी कि ना जी पाए ना जी पाए ऐसी गंवा दिया जिंदगी हाथ से चली गई अब अभी तू तो जिंदगी है तो शांत होना चाहता है फिर शांति होगी तो जीना चाहेगा उलझाओ खड़े मत कर जी ले अभी अभी तूफानों से जूझ ले अभी आंधियों से लड़ ले एक तो शांति है जो आंधियों से बच के मिलती कि छुप रहे कहीं और एक शांति है जो आंधियों से जूझ के उपलब्ध होती है एक शांति है जो तूफानों के बाद आती है तूफानों के द्वारा आती है और एक शांति है जो शुतुर्मुर्ग जैसी है सिर को छिपा लिया रेत में भगोड़े की है पलायनवादी की है शिष्य पता नहीं किन कारणों से आ जाता है लेकिन शिष्य के कारण पूरे करने को गुरु नहीं है गुरु वहां देख रहा है जहां की तुम्हें खबर नहीं है गुरु की आंखों में रोशनी है किसी सूरज की जिस सूरज की सुबह अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुई है वो तुम्हें अपने प्रकाश में ले चलता है वो तुमसे कहता रहता ठीक आ गए जल्दी ही शांत हो जाओगे जल्दी ही आनंद मिलेगा जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और सारे समय तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींचे ले रहा है लेकिन जिस दिन तुम गुरु की दृष्टि को समझ पाओगे उस दिन तुम अनुग्रहित होगे उस दिन तुम कहोगे अच्छा किया हम जो प्रार्थना लेके आए थे वो तुमने पूरी ना की अच्छा किया अच्छा हुआ कि तुमने हमारी प्रार्थना ही बदल दी इधर मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी करने को नहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलने को इसलिए स्वभावतः तुम्हें बहुत बार अड़चन होगी ये तुम्हें तो उलझाव बढ़ाने लगा लेकिन अगर तुम मुझे समझोगे तो मैं एक ही बात रोज कह रहा हूं अगर तुम मुझे समझोगे तो मेरा स्वर एक तारे का है एक ही तार है उसमें चाहे मैं बुद्ध को गुनगुनाऊं चाहे कृष्ण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बहाने हैं और बड़े प्यारे बहाने से इतर बुद्धों की खूंटी का सहारा क्यों लेते बड़ी प्यारी खूंटियां हैं ये ऐसी खूंटियां हैं जो मुक्त करती ये ऐसी खूंटियां हैं जो तुम्हें खुला करती फिर जिनके संबंध में मैं बोल रहा हूं मेरे लिए वो पराय नहीं उनके साथ मेरा एक तादाद में जिस दिन अपने से संबंध छूटा उसी दिन उनसे संबंध बन गया इधर नाव किनारे से छूटी उधर सागर की हो गई तो मैं बुद्धों पर बोल रहा हूं ऐसा नहीं अपने पर ही बोल रहा हूं मेरे भीतर कोई अंतर नहीं है इसलिए तुम बहुत अड़चन में और भी पढ़ोगे अगर यहाँ कोई बौद्ध सुन रहा होगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा कि बुद्ध पे तो ऐसी बातें तो कभी सुनी नहीं जैन अड़चन में है कि मैं महावीर पे क्या कहता हूं ईसाई उलझते हैं कि मैं ईसा पे क्या कह रहा हूं ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं क्योंकि जिन्होंने कहा है लिखा है उनके पास अपनी कोई दृष्टि नहीं थी पंडित लिखते हैं पंडित बोलते हैं मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं यही एक उपाय है तुम्हें पंडितों से मुक्त करने का फिर मैं कहता हूं अगर तुम्हारा बुद्ध से लगाव है चलो यही सही इसी घाट से तुम्हें उतारेंगे तुम अगर कहते हो कि हम तो बुद्ध के घास से ही जाएंगे बुद्धम शरणम गच्छाम तो मैं कहता हूं चलो ठीक क्या हर जाए ना इसी घाट से छूटने तो मैं हर घाट से नाव छोड़ने को राजी क्योंकि मैं जानता हूं नाव जब छूटती घाट तो पीछे छूट जाता है ये खूंटियां प्यारी है अगर इन्हीं खूंटियों पर पंडित बोले तो तुम बंध जाओगे अगर इन्हीं खुटियों पर बुद्ध पुरुष बोले तो तुम मुक्त हो जाओगे निर्भर करता है कौन बोल रहा है कहां से बोली जा रही है बात इसलिए बुद्ध के वचन में क्या है इसकी मुझे बहुत फिक्र नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वचन के विपरीत भी बुद्ध के पक्ष में निर्णय लेना होता है देखता हूं कि वचन तो ये है लेकिन बुद्ध ये बोल सकते नहीं फिर मैं वचन की फिक्र नहीं करता फिर मैं बुद्ध की फिक्र करता हूं क्योंकि वचन जिनने संग्रहित किए हैं अनिवार्य रूप से वे उसमें सम्मिलित हो गए होंगे फिर हजारों साल बीत गए बहुत जुड़ता चला गया है घटता चला गया है एक एक शब्द आमूल रूप बदल देता है एक एक मात्रा एक एक विराम बड़े फर्क ले आता है जरा यहाँ का वहां कि सब बदल जाता है मैं फिक्र नहीं करता जब धम्म पद और बुद्ध के बीच में से चुनना हो तो मैं बुद्ध को चुनता हूँ एक बहुत बड़े बौद्ध पंडित और भिक्षु हैं बदंत आनंद आए वो मुझे मिलने नागपुर में मैं था आए वो कहने लगे आपकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती मगर कई बातें ऐसी कि शास्त्र में नहीं और आप इतने बलपूर्वक कहते हैं कहा से आपको मिली मैंने उनसे कहा वहीं से जहां से बुद्ध को मिली वो थोड़े बेचैन हुए कि फिर भी कोई शास्त्र मैं कोई शास्त्री नहीं हूं अगर तुम्हें मेरी कोई बात जस्ती हो शास्त्र में जोड़ देना अगर मेरी बात शास्त्र के विपरीत पड़ती हो और जस्ती हो तो शास्त्र को बदल लेना मैं शास्त्र की मान के चलने को नहीं हूं मैं कोई शब्दों की लकीर से बंधा नहीं ऐसी सुविधा जो मुझे बहुत मुश्किल से होती इसलिए मैं छोड़ देता हूं बहुत से वचन पूरे धम्म पद पर नहीं बोल रहा हूं इसमें बहुत से सूत्र मैंने छोड़ दिए कचरा मानकर किसी और ने डाले होंगे बुद्ध के नहीं हो सकते और अगर इसका किसी दिन निपटारा होगा तो मेरे और बुद्ध के बीच इसमें भदन आनंद कौशल्या को क्या लेना दे सुलझ लेंगे पंडितों को तो मुश्किल होगी क्योंकि पंडित के पास अपना तो दिया नहीं वो ये तो जांच ही नहीं सकता कि बुद्ध ने क्या कहा होगा उसके लिए तो बुद्ध होना जरूरी है वो तो शास्त्र में खोज सकता है शास्त्र में कहा है बस शास्त्र में कैसे आया बुद्ध के द्वारा आया या किसी और ने डाल दिया कोई और छोड़ गया वचन संग्रहित किए गए वर्षों बाद लिखे गए बुद्ध के मर जाने के कोई 500 वर्ष बाद थोड़ा सोच लोगों की स्मृति में रहे इसलिए बहुत से पाठ है पाठ भेद है क्योंकि एक स्मृति में रखने वाले ने कुछ जोड़ लिया कुछ छूट गया ऐसा भी नहीं कि जान के किया हो लोगों ने बड़ी निष्ठा और प्रेम से संभाला होगा लेकिन मनुष्य स्वभाव मनुष्य की सीमाएं स्मृति की सीमाएं स्मृति की भूल चूके हैं तो वेद के बहुत पाठ है एक पाठ एक बात कहता है दूसरी पाठ दूसरा बात कहता है अब सवाल यह है कि कैसे निर्णय करो कि कौन सही है एक ही उपाय है वहां पहुंच जाओ जहां से वेद पैदा होते जहां से वेद जन्मता है उस गंगोत्री में तलाशो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा मौका फिर मिले ना मिले बुद्ध को फिर ताजा कर जाऊं महावीर को फिर से ताजगी दे दू ये फूल खूब कुमला गए बड़े प्यारे लेकिन सूखने लगे इनकी जड़ों को पानी नहीं मिला इनका उपयोग हो सकता था इनकी सिर्फ पूजा हुई इनसे महाक्रांति पैदा हो सकती थी कुछ भी ना हुआ इनको फिर ज्योति दे देनी जरूरी है इन दियों की ज्योति बुझने लगी है जरा बाती को संभाल देना जरूरी है इसके पहले की बाती डूबी जाए बुझी जाए कोई संभाल दे ये फिर प्रज्वलित हो जाएंगे फिर इनसे प्रकाश मिलने लगेगा और सभी दियो से एक ही प्रकाश है इसलिए मुझे अड़चन नहीं होती मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये कैसे संभव होता आपको क्या आप बाइबल पे भी बोल लेते हैं धम पर भी बोल लेते हैं गीता पे भी बोल लेते हैं इसमें कुछ अड़चन नहीं है उलझन नहीं है मेरे पास अपनी कसौटी है इसलिए जहां मेरी कसौटी से मेल खा जाता है वहां मैं जानता हूं जीसस ने कहा है जहां मेरी कसौटी से मेल नहीं खाता वहां मैं जानता हूं जीसस ने नहीं कहा है जीसस से कोई पूछता है किस अधिकार के बल बोल रहे हैं बाय वॉट अथॉरिटी तो जीसस ने मालूम है क्या कहा जीसस ने कहा अब्राहिम भी जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं था अब्राहम वो यहूदियों का सबसे पुराना पैगंबर है जैसे राम हिंदुओं के ऐसे अब्राहम यहूदियों का है और इस बात की बहुत संभावना है कि दो व्यक्ति ना हो क्योंकि अब्राहम अब्राम का रूपांतर है हो सकता है ये एक ही व्यक्ति हो इस बात की बहुत संभावना है मूल हिब्रू तो अब्राम है अब्राम का मतलब होता है श्री राम सम्मान के लिए है अब राम को कैसे राम कहे श्री राम तो अब राम फिर अब्राहम हुआ उससे चलते चलते बिगड़ गया और ये दो ही धर्म है संसार में जो बड़े मूल है हिंदू और यहूदी फिर से तो इनकी शाखाएं हिंदुओं की शाखाएं हैं जैन बौद्ध सिख यहूदियों की शाखाएं हैं मुसलमान ईसाई ये दो मूल है और हो सकता है दोनों के पीछे एक ही स्रोत राम का होना भी चाहिए यही धर्म का एक ही स्रोत होना चाहिए फिर उसकी शाखाएं फैलती चली गई तो जीसस ने कहा अब्राहम भी नहीं था तब भी मैं था जीसस ये कह रहे हैं कि मैं उसी मूल स्रोत से आता हूं जहां से सब आए उनके भी पहले मैं था समय का कोई सवाल नहीं मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध भी नहीं थे तब में था अड़चन होगी या जहां से बुद्ध आए वहीं से मैं आता हूं उसी एक घर से उसी एक गंगोत्री से मुझे पता है बुद्ध ने क्या कहा होगा जो मैं नहीं कह सकता वो बुद्ध नहीं कह सकते अगर तू पूछो किस अधिकार से मेरे अधिकार से कहता हूं और तो कोई अधिकार है नहीं और कोई अधिकार हो भी नहीं सकता अपनी ही बात सीधी हमसे क्यों नहीं कहते हमें उलझाते क्यों तुम उलझे ही हो तुम्हें उलझाता नहीं हूं सिर्फ तुम्हारी उलझन को ऊपर लाता हूं तुम्हारी उलझन को सतह तक तैराता हूं उलझे तो तुम हो ही उलझे ना होते तो जरूरत ही ना थी जो नहीं उलझा है उसे कोई उलझा नहीं सकता तुम तो मुझे उलझाओ तुम तो इतने पारंगत हो उलझन में चलो कोशिश करो तुम मुझे उलझाओ तुम मुझे नहीं उलझा सकते जो सुलझ गया सुलझ गया जो जाग गया उसे सोए लोग जगा नहीं सुला नहीं सकते कैसे सुलाएंगे थोड़ा सोचो करोड़ लोग सोते हो और एक आदमी जागा हो तो करोड़ आदमियों की ताकत भी तो उसे सुला नहीं सकती लेकिन एक आदमी जागा हो तो करोड़ को जगा सकता है तुम इतने हो मैं अकेला हूं तुम सब उलझे हो तुम मुझे उलझाओ कोई उपाय नहीं मैं तुम्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ हालांकि मैं समझ गया तुम्हारे प्रश्न का मतलब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें ख्याल था कि तुम सुलझे होंगे जब से आए हो तब से उलझने दिखाई देने लगी दर्पण के सामने आ गए तो अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगा पहले तुमने सोचा था बड़े सुंदर अब दर्पण के सामने पड़ गए तो ऐसे मानने लगी कभी कभी दर्पण पे भी नाराज हो जाता ये मामला क्या हम तो बड़े सुंदर थे एक स्त्री पागल हो गई वो जहां भी जाती दर्पण होता तो तोड़ देती लोग पूछते मामला क्या है तो वो कहती है दर्पण मुझे गुरु बना देती वो स्त्री कुरूप थी लेकिन दर्पण होते नाराज होती दर्पण किसी को क्या कुरूप बनाएंगे इधर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें उलझने दिखाई पड़ने शुरू होंगे मेरी चेष्टा है कि उलझने दबी ना रहे उनका रिचन वे चिरे ऊपर आए क्योंकि ऊपर आए तो ही उनसे छुटकारा हो सकता है दबी न रह जाए तुम्हारे मन के कोने कांतरों में पड़ी न रह जाए अंधेरे में न पड़ी रहे तुम्हारी चेतना के कल भरों में न रहे रोशनी न आए रोशनी में मरेंगे रोशनी में आते से तुम उन्हें छोड़ने लगोगे क्योंकि तुम्हें ये दिखाई पड़ेगा कि तुम ही उन्हें पालो पोसो तो वो बचते उनने तुम्हें नहीं पकड़ा है तुमने ही उन्हें पकड़ा है पर जागने के पहले झूठे सुलझाव से मुक्ति मिलती और सच्चा उलझाव प्रकट होता है साधारण सा आदमी सोचता है सुलझा ही हुआ है इतना बेहोश है इतना भी समझ में नहीं आता कि मैं उलझाऊ तुम दूसरों को भी सलाह दिए चले जाते हो तुम्हें ये भी पता नहीं कि ये सलाहें अपने काम भी नहीं आई ये सलाहों का तुम खुद भी जीवन में आचरण नहीं कर पाते दूसरों को दिए चले जाते तुम्हारी सलाहों के कारण संसार में बड़ी भारी दुर्घटना घटती क्योंकि तुमने ख्याल किया जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उम्र बढ़ती अनुभव आता है वैसे वैसे उसकी श्रद्धा क्षीण होने लगती बड़े आश्चर्य की बात है पहले वो अपने माँ बाप पर भरोसा कर जाता है लगते थे वे जो कुछ कहते हैं वेदवाक्य देववाणी फिर धीरे धीरे संदेह पैदा होता क्योंकि माँ बाप ने जो बातें कही थी बच्चा जब देखने में समर्थ हो जाता पाता है ये तो उनका आचरण खुद भी नहीं करते जब तक बोझ नहीं था तब तक भरोसा करता था ठीक कहते पर अब पकड़ने लगता है विरोधाभास कहते कुछ है करते कुछ है करते कुछ है बताते कुछ है कुछ दिखावा बड़ा और है पाखंड दिखाई पड़ने लगता है और जिस बच्चे के मन से माँ बाप का भरोसा उठ गया क्योंकि वो उसकी पहली श्रद्धा थी वो उसका पहला प्रेम था उसकी श्रद्धा का भवन गिरने का अब ये किसी पर भरोसा ना कर सके जब अपने माँ बाप तक दगा दे गए जब ये भी भरोसे के साबित न हुए अब कौन साबित होगा फिर भी चेष्टा करता है क्योंकि श्रद्धा बड़ी कृति कर और अश्रद्धा बड़ी कष्टपूर्ण बड़ी मुश्किल से छोड़ता है बच्चा श्रद्धा को स्कूल के शिक्षकों पर भरोसा करने लेकिन वो भी टूट जाता है उनके जीवन में भी वो नहीं दिखाई पड़ता जो वो कहते दिखाई उल्टा ही पड़ता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है जैसे जैसे जीवन का अनुभव होता है सब तरफ से श्रद्धा पर चोट पड़ती सब तरफ से श्रद्धा खंडित होती अश्रद्धा भर जाती ये अश्रद्धा इसलिए पैदा होती है कि तुम ऐसी सलाहें दे रहे हो जो तुम्हें नहीं देनी थी तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम्हें नहीं कहनी थी आखिर कितनी देर धोखा दोगे थोड़े लोगों को थोड़े दिन धोखा दिया जा सकता है लेकिन सभी को तुम सदा के लिए थोड़ी धोखा दे दोगे अगर लोग इतने भी जागरूक हो जाएं कि ऐसी सलाह न दें जो उनके जीवन का अनुभव नहीं है तो दुनिया में श्रद्धा के पौधे पनपने लगे अगर बाप ये कह दे कि मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं मैं भी खोज रहा हूं तू भी खोज ना बेटे अगर तुझे मिल जाए तो मुझे बता देना मुझे मिल जाएगा तो तुझे बता दूंगा लेकिन मैं भी टटोल रहा हूँ इस बाप से श्रद्धा कभी ना उठ सकेगी लेकिन पूछो बाप किसी भी बाप ईश्वर है घटा है उसी ने संसार बनाया प्रार्थना करो रोज लेकिन आज नहीं कल बेटा पाएगा कि इसकी प्रार्थना झूठी रोज तो ये भी नहीं करता है रोज रोज पाएगा कि इसका जीवन वक्तव्य कुछ और दे रहा है और ये कहता कुछ और है करता तो ये वही है जिसमें सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं और कहता है कि ईश्वर घृणा और मनुष्य और ईर्षा और प्रतिस्पर्धा सब इसमें घर की है मोह मच्छर और मद सब इसमें घर की है सब तरह के जहर पाले हुए इन जहरों से प्रार्थना उठेगी कैसे ध्यान रखना तुम जब तक मेरे पास न आए थे तुम्हें अपनी सलाहें मूल्यवान मालूम होती थी मेरे पास आके तुम्हारी सलाहें दोगौड़ी की हो जाएंगी जब तक तुम मेरे पास न आए थे तुम्हें लगता था सब ठीक क्योंकि ठीक का तुम्हें पता ही ना था तुलना कैसे करते रहे तोलते कहा तराजू कहाँ था मुझे सुनोगे सब गैर ठीक होने लगेगा मेरे पास नहीं आए थे बड़े सुलझे हुए थे स्वभाव ने पूछा स्वभाव को मैं जानता हूँ मेरे पास आने के पहले स्वभाव बिल्कुल सुलझे हुए थे साफ साफ था सब मामला दृढ़ता थी मुस्त तक आगे टकरा जाते थे बड़ा भरोसा था कि फिर जैसे जैसे करीब आए वो भरोसा मगाया वो दृढ़ता टूट पिघले बहे उलझाव प्रकट हुआ जो भीतर छुपा था बड़ी उलझने हैं गुंज लिखे हैं उलझनों की उलझनों पर उलझने धागे में धागे उलझे किसी तरह हम ऊपर से अपने को समझाए रखते हैं इनको जीना मुश्किल हो जाए तुम अपना सारा उलझाओ लेके बाजार जाओगे दुकान चलाना मुश्किल हो जाए तुम सारा उलझाव लेके घर आओगे पत्नी से संबंध जोड़ना मुश्किल हो जाए तुम उलझाओं को किनारे रखते तुम कहते हटाए चलो आए चलो एक कोना साफ सुथरा रखते जैसा तुम्हारा घर का बैठक खाना है बस उसको तुम साफ सुथरा रखो वहां मेहमानों से मिलजुल लेते हो बाकी सारा घर गंदा है वहां तुम नजर ही नहीं डालते वहां ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं मेरे पास आए तो उलझन होगी इसलिए प्रश्न बिल्कुल सार्थक पूछा है हमें उलझाते क्यों और करें क्या तुम उलझे हो सुलझाओ की बातें हम करेंगे तुम्हारा उलझाव प्रकट होगा जैसे अंधेरी दीवार पर सूरज की किरण चमके अंधेरे बादलों में काले बादलों में बिजली चमके तुमने ख्याल किया बिजली चमक जाने के बाद रात और अंधेरी मालूम होती राह से गुजरते तुमने देखा कार निकल जाती तेज प्रकाश अंधेरा था लेकिन कार गुजर जाने के बाद और अंधेरा हो जाता अब कार अंधेरा थोड़ी कर गई लेकिन कार रोशनी की झलक दे गई आंखें जब रोशनी देख लेती तो अंधेरे को पहचानती और गहराई मैं तो सुलझाने की ही कोशिश कर रहा हूं लेकिन जितनी सुलझाने की मैं कोशिश करूंगा जितनी रोशनी तुम्हारी आंख में डालूंगा उतना तुम्हें अपना अंधेरा दिखाई पड़ेगा और इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं अंधेरे को देखो छिपाओ मत उघाड़ो उघाड़ने से ही मुक्ति उसे बाहर लाओ उससे संबंध छोड़ो उससे नाते गिराओ उसके साथ जितने तुमने न्यस्त स्वार्थ बांध रखे उनसे मुक्त हो जाओ क्योंकि गलत से कोई भी स्वार्थ कभी पूरा होने वाला नहीं तुम कितना ही चाहो कि क्रोध से कभी शांति मिल जाए नहीं मिलेगी और तुम कितना ही चाहो कि वैर से कभी मित्रता मिल जाए नहीं मिलेगी बुद्ध ने कहा है वैर से वैर नहीं घटता शत्रुता से शत्रुता नहीं घटती क्रोध से क्रोध की अग्नि और जल्दी चली जाती इसे देखो जिस दिन तुम्हें ये साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि मैं जहर को अमृत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यही मेरी उलझन है बस उसी दिन तुम छुटकारा पा जाओ लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि जन्मों जन्मों तक तुमने गलत के साथ संबंध बांधे गलत ने तुम्हारे भीतर जगह जगह जड़े पहुंचा दी मैंने सुना है एक फकीर बैठा हुआ था नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ सर्दी थी बहुत तो फकीर छुट्टो है देखा नदी में कम्बल कंबल बहता चला है तो शिष्यों ने कहा कंबल आप छलांग लगा के कंबल निकाल क्यों नहीं लाते आप ठंड से परेशान वो फकीर छलांग लगाया लेकिन वो कंबल नहीं था वो एक रीच जो सिर छिपाए हुए पानी में बहा जा रहा था कंबल जैसा मालूम पड़ रहा था और जब उसने रीछ को पकड़ लिया तो उसने पाया कि उसने तो पकड़ा नहीं था तत्काल रीच ने उसको पकड़ा अब वो उसके साथ बहने लगा उसके शिष्य ने कहा क्या मामला है अगर कंबल बहुत बजनी हो और खींच के ला सकते हो तो छोड़ दो उसने कहा कि अब छोड़ना बहुत मुश्किल कम्बल ने भी पकड़ लिया है मैं नहीं पकड़े हूं मैं तो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अब कम्बल ने भी पकड़ लिया तुमने जो उलझने पकड़ी है वो मुर्दा नहीं उन्हें तुमने खुद जीवन दिया खुद सोचा है वो कंबल की तरह नहीं बीज की तरह हो गई उनमें तुमने प्राण डाल दिया अपना ही प्राण डाला है खींच धीरे धीरे तो निकल जाएगा निष्प्राण हो जाएंगे लेकिन एकदम से होगा नहीं समय लगेगा इसलिए जिसमें हिम्मत हो संघर्ष को जारी रखने की वही उलझनों से मुक्त हो सकता है समझ जरूरी है फिर समझ के बाद थोड़ी प्रतीक्षा जरूरी है संघर्ष जारी रखो प्रतीक्षा और धैर्य रखो जिसको बनाया है उसको हम मिटा भी सकते जो हम नहीं बनाया है हम उसे मिटा सकते आखिर आप कहते वही है जो आपको कहना है फिर इतर बुद्धों की खुशी का सहारा क्यों लेते हैं अपनी बात सीधे ही हमसे क्यों नहीं कहते सीधे तो तुम बिल्कुल न समझ पाओ बुद्धों के वचन तो तुम्हें परिचित हो गए पच्चीस सौ साल लगे जब बुद्ध के वचन धीरे धीरे तुम्हारे रग रेस में उतरे पांच हजार साल लगे तब कहीं गीता तुम्हारे कंठ में उतरी हृदय में तो अभी भी नहीं उतरी पर कंठ तो तो उतर गई कंठस्थ हो गई दो हजार साल लगे तब कहीं जीसस के वचन लोगों की वाणियों में छा गए प्राणों में तो अपटक नहीं लेकिन वाणियों में छा गए वो परखी थी अगर मैं सीधा सीधा बोलूं वो मैंने सोचा है कि जाने के पहले सीधा सीधा बोलूंगा तुम जरा तैयार हो जाओ लेकिन मुझे शक है कि तुम समझ पाओ फिर पच्चीस सौ साल लगेंगे फिर कोई और बुद्ध पुरुष की जरूरत होगी जो तुम्हें समझा है क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बोलूंगा वो तरुणम तुमसे बिल्कुल अपरिचित होगी वे शब्द तुम्हें बड़े बेबूझ मालूम हो उनमें तुम्हें संगति न दिखाई पड़ेगी इसलिए खूंटियां खोजता हूँ तुम्हारे सहारे के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं मुझे तो खूंटियों की वजह से बोलने में थोड़ी अड़चन होती क्योंकि मुझे तालमेल बिठाना पड़ता है पच्चीस साल पुरानी भाषा के साथ व्यर्थ की अड़चन आती मुझे जो कहना है वही कहना है मैं सीधे कह सकता हूँ आखिर धर्म पद में एक भी ऐसा वचन नहीं है जो ऐसा हो जो मैं सीधा ना कह सकूं तुमने कोई एक वचन अभी तक सुना जो ऐसा है जो मैं सीधा ना कह सकूं अड़चन क्या है गीता में कौन सा ऐसा वचन है जो मैं सीधा ना कह सकूं ऐसी बात क्या है जो सीधी नहीं कही जा सकती लेकिन जब मैं सीधी कहूंगा तो वो तुमसे बिल्कुल अपरिचित हो कोरे आकाश से उतरेगी अगर मैं बुद्ध के ढांचे का सहारा लेता हूं तो 2500 साल पुराना ढांचा है उससे तुम धीरे धीरे राजी हो गए पहचान गए अगर मैं वेद पर बोलू उपनिषद पर बोलू तो वो तुम्हारे खून में उतर गया है मैं उसका फायदा ले रहा हूँ ये तुम्हारे लिए सुगम बनाने की दृष्टि से है कठिन बनाने की दृष्टि से नहीं लेकिन तुम इतने कठिन हो कि सुगम बनाने को भी कठिनता दिखाई पड़ जाती मैं बोलूंगा कभी मेरे ख्याल में है लेकिन तुम्हें तैयार कर लू अभी तो तुम्हें लगता है विरोधाभासी हो तब तुम्हें लगेगा पागल हो गए क्योंकि फिर मैं बोलूंगा तुम्हारी फिक्र छोड़ दूंगा तुम्हारी फिक्र से बोला तो फिर मुझे पुरानी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा फिर मैं बोलूंगा जैसे कि मैं खाली रिक्त स्थान में बोल रहा हूँ तुम नहीं तुम जरा रिक्त और खाली हो जाओ तब मैं सूत्रों में बोलूंगा फिर मैं व्याख्या नहीं करूंगा व्याख्या कौन करेगा फिर व्याख्या के लिए पच्चीस सौ साल रुकना पड़ेगा फिर सौभाग्य की बात है कभी कोई जागेगा उसकी व्याख्या कर देगा तो ठीक है ख्याल रखो जो भी कर रहा हूं वो इसलिए है कि तुम्हें किसी भी तरह सहारा मिल जाए कुछ भी उपाय खाली ना छोड़ा जाए तुम ये ना कह सको कि मैंने कोई उपाय खाली छोड़ा अगर तुम भटको तो मैं तुम्हें इस स्थिति में ही भटक से छोड़ूंगा कि तुम जानते रहो कि तुम अपने कारण भटक रहे हो मेरे कारण नहीं तुम ये ना कह सकोगे ये शिकायत ना कर सकोगे कि मैंने कोई औसत छोड़ी थी तुम ये ना कह सकोगे कि आप एलोपैथी का इलाज करते रहे और हम होम्योपैथी से ठीक हो सकते तो मैं सभी इलाज कर रहा हूँ होम्योपैथी भी नेचुरोपैथी भी आयुर्वेद भी हकीमी भी अकुपंचर भी जो तुम जिस इलाज से तुम्हारी बीमारी छूटने की तुम्हारी इच्छा हो वही अगर फिर भी तुम ठीक न हुए तो तुम्हें कहना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि तुमने बीमारी को पकड़ा था तुम छोड़ना ही ना चाहते थे तुम मुझे दोष न दे सकोगे दूसरा प्रश्न सुना है संत स्वार्थ सिखाते किन, किंतु कल तो आपने हमें हरी झंडी दिखा दी भाग्य से प्रेम का प्याला मिला था द्वंद की दवा द्वंदातीत से मांगी थी और आपने हरी झंडी दिखा दी ज्योति के प्रकाश के अमृत के प्रभु के घर से जाने की हरी झंडी कैसी यदि तुम मुझे समझ गए तो तुम फिक्र छोड़ो तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ आता हूं यहां रुकने का आग्रह तो यही बताता है कि तुम्हें डर है कि कहीं इंदौर गए तो जो पाया है वो छूट जाए इंदौर में कुछ खराबी पूना से खराब तो नहीं जैसे लोग यहाँ हैं वैसे लोग वहां हैं जिस वृक्ष यहाँ है वैसे वृक्ष वहाँ है जिस आकाश में पूना को घेरा उसी आकाश इंदौर को भी घेरा और जिस पृथ्वी ने पूना को संभाला उसी पृथ्वी ने इंदौर को संभाला मैं चाहता हूँ कि इंदौर और पूना का फासला मिट जाए तुम इंदौर में भी पूना को पा सको तुमने अगर जिद की कि तुम नहीं यही रुकोगे तो वो जिद सिर्फ डर बताती मैं तुम्हें उस डर से भी मुक्त करना चाहता हूँ तुम अगर मेरे पास ही सुखी रह सकते हो तो ये सुख बहुत कीमत का ना हुआ ये सुख बहुत गहरा ना हुआ ये सुख बड़ा उछला है ऊपर ऊपर से इस सुख के भीतर डर तो छिपा ही है छूट जाने का खो जाने का हरी झंडी से डरते क्यों हो हरी झंडी उतनी ही प्यारी है जितनी लाल झंडी तुम मेरे हाथ को तो पहचानो जिसने लाल झंडी दी है वही हरी झंडी दे रहा है अब अगर तुम कहते हो हम तो लाल झंडी देखेंगे हरी झंडी ना देखेंगे तो तुम मेरे हाथ नहीं देख रहे तुम अपनी जिद से टिके हो तुमने पुरानी कहानी सुनी है एक परम ज्ञानी अपने शिष्यों को समझा रहा था कि सभी जगह परमात्मा है सब रूपों में वही छाया सभी रंग में वही एक शिष्य वहां से विदा हुआ इस भाव से भरा हुआ राह पर राजा कहा की पागल हो गया था महावत चिल्लाया हट जाओ आसपास के लोगों ने रोका कि राह तो मत जाओ हाथी पागल है पर उसने कहा छोड़ो भी अभी गुरु के घर से आ रहा हूं और गुरु ने कहा सब में वही वही एक बसा है इस हाथी में भी वही है क्या डर वही मुझ में वही इसमें माना उसने तो वेदांत सुना था हाथी ने ना सुना था तो वही झंझट हो गई हाथी कहीं उपनिषद वगैरह की चिंता करते हैं हाथी ने उसको उठाया सूर्य में मरड़ा और फेंका टकराया पास की दीवार से सिर खुल गया लहू लुहान हो गया वो बोला अरे ये गुरु तो कहता था सभी में तुम उसने कहा मुझे गुरु के पास ले चलो ये तो बात संदिग्ध मालूम पड़ती लोग उसे उठा के गुरु के पास ले गए गुरु ने कहा मैंने कहा था सभी में ब्रह्म है लेकिन महावत में नहीं है ऐसा मैंने कहा था और महावत जब चिल्ला रहा था कि रुको तो कौन चिल्लाया था ना समझ ब्रह्म ही चिल्लाया था अब तेरी मर्जी तू हाथी के ब्रह्म की सुना और महावत के ब्रह्म की ना सुना जब महावत और हाथी में सवाल उठे तो महावत का ब्रह्म ज्यादा विकसित ब्रह्म उसकी सुना तूने व्यर्थ सिद्ध की तुम सोचते हो लाल झंडी मैंने बताई इसलिए तुम रुके नहीं तुम रुकना चाहते हो तुम अपने कारण रुकते हो इसलिए हरी झंडी बाधा डालती पर मैं कहता हूं मेरे हाथ को देखो मैं तुम्हें पास बुलाता हूँ तुम्हें दूर भी भेजते ताकि तुम उस ढंग से पास होना सीख जाओ जहां फिर पास आने और दूर जाने का उपाय नहीं रहता तुमने जो पाया है उसे संभालो गांठ बैठाओ घर जाओ कोशिश करना वहां भी कि जो शांति जो आनंद जो सुख जो ध्यान यहाँ मिला वो वहां भी मिल सके न मिले जानता हूँ कठिनाइया है फिर लौटाना लेकिन बार बार जाना वही है जिस दिन तुम्हें ब्रह्म इंदौर में दिखाई पड़ने लगे उसी दिन समझना कि मेरे पास आए और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम जाओ मैं पीछे आ रहा हूं तुम किस बात को बेहतर समझते हो तुम्हारे यहां रहने को या तुम्हारे साथ मेरे आने को मैं नहीं चाहता कि जिंदगी को तुम बोझ समझने लो मैं तुम्हें जिंदगी को जीने की कला सिखाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी को आनंद से जी सको अहोभाव से जी सको मैं तुमने और तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की दुई पैदा नहीं करना चाहता खाई पैदा नहीं करना चाहता अन्यथा अधिक बार ऐसा ही हुआ है कि धर्म के नाम पर तुम भगोड़े हो गए हो अब उन्होंने पूछा है कि यह हरी झंडी कैसी वस्तुतः प्रश्न से ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें भगा रहा हूँ गौर से देखो तुम भागना चाहते हो तुम घर से भागना चाहते हो तुम मुझे सहारा बना के घर से पलायन करना चाहते हो पत्नी है बच्चे हैं जिम्मेवारियां हैं तुम उनसे भागना चाहते हो नहीं मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें भगोड़ेपन से बचाना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम घर में रहो और बेमन से रहो मैं कहता हूँ कि घर को मंदिर समझो ऐसा ना हो कि तुम्हें और तुम्हारे मन में इस तरह की बातें पैदा हो जाएं। अब जी रहा हूँ गर्द से दौरा के साथ साथ ये नागवार फर्ज अदा कर रहा हूँ ये नागवार फर्ज धर्म ने अब तक यही उपद्रव करवा दिया लोगों को जिस दिन धर्म की बात जसती है तो फिर सारा नागवार हो जाता जबरदस्ती धोए चले जाते मजबूरी है उलझ गए फंस गए जाल में बच्चे पैदा कर लिए क्या करें विवाह कर लिया क्या करे नहीं जिंदगी अगर नागवार फर्ज हो जाए जबरदस्ती बोझ जैसा कर्तव्य हो जाए तो तुमने धर्म को समझा ही नहीं धर्म तुम्हारे पैरों को नृत्य देगा तुम्हें निर्भर करेगा इसलिए मैं तुम्हारे विपरीत लड़ता ही रहूंगा मैं तुम्हें पलायनवादी नहीं बनने दूंगा और एक ना एक दिन जब तुम समझोगे तब तुम मुझे धन्यवाद दोगे अभी तो तुम्हें लगेगा ये क्या बात है तुम यहाँ रहना चाहते हो मैं कहता हूँ जाओ तुम सब छोड़ने को तैयार हो मैं कहता हूँ मत छोड़ो तुम कहोगे ये क्या बात है तुम चाहते हो कि मैं हाँ भर ताकि छोड़ने का छोड़ने की जो बुलानी है तुम्हारे मन में उसका उत्तरदायित्व तुम मुझसे सौंप दो तुम कहो क्या करें गुरु ने कहा सब छोड़ दो ऐसे गुरु बहुत है अगर छोड़ना ही होगा तुम्हें तो तुम कैसे ऐसे गुरु को खोज लोगे जो छोड़वा देगा बड़े नासमझ लोग हैं एक सिंधी महिला ने मुझे आके कहा उनके कोई गुरु कोई दादा उस महिला ने मुझे कहा कि मैं बड़ी उलझन में पड़ गई अब एक तो गुरु और फिर सिंधियों के गुरु बड़ी उलझन में पड़ गई क्या उलझन है कहा कि मेरे गुरु ने समझाया कि ये जो पति का प्रेम वगैरह रवि विवाह हुए कोई दो ही साल हुए थे ये जो प्रेम वगैरह है ये सब धोखा है भ्रमजाल है माया है तो मैंने पूछा कि इसकी कसौटी कैसे करूं तो गुरु ने कहा ऐसा कर पंद्रह दिन तक तू उदासीन रहे पति कुछ भी करे तू का जाहिर कर पति कुछ भी कहे तो क्रोध और नाराजगी जाहिर कर पता चल जाएगा अगर प्रेम होगा तो टिकेगा नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा उस मूड ने घर जाके ये प्रयोग भी कर लिया पंद्रह दिन उदासीन क्रोधित पति आखिर पति है उसने पिटाई कर दी उसकी पिटाई कर दी तो गुरु से जाकर पूछा आप क्या करना गुरु ने कहा छोड़ ये कैसा प्रेम वो छोड़ के घर द्वार छोड़कर बैठ गई तभी कोई उसे मेरे पास ले आया मैंने कहा वो तो ठीक है तेरे पति ने तेरी पिटाई की तू एक ही पिटाई से भाग खड़ी हो तूने ये ना सोचा कि पति कहीं किसी और गुरु की शिक्षा लेके और प्रयोग कर रहे हो ये भी तो तू सोच थोड़ा कोई और दादा मिल गए हो तो दादाओं की कोई कमी है और तो तेरा प्रेम एक ही दफे में खत्म हो गया पंद्रह दिन में पति की तू परीक्षा लेती रही और उसने एक ही दफे लगाई पिटाई तेरी तू फिर से घर जाए तू जरा सोच तो ये बात तो मेरे ख्याल में ना आई पति भी परीक्षा ले रहा होगा जब तू परीक्षा ले रही तो पति को भी मौका दे जीवन को हम व्यर्थ उपद्रवों से भरते और इस तरह के लोग हमारे आसपास पास और उनके होने का कारण यही है कि तुम जीवन जीने की कला नहीं जानते तो जीवन में अड़चने आती हैं तुम्हें समझो के पास पहुंच जाते हो और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे जिसने हजारों मरीजों का इलाज किया हो लेकिन अगर तुम विवाह से परेशान हो तो किसी बाल ब्रह्मचारी के पास पहुंच जाओ बड़े मजे की बात तुम जरा अकल का भी तो थोड़ा सोचो बुद्धि है तुम्हारे पास जिनने एक भी विवाह नहीं किया ये तो पक्का प्रमाण पत्र हुआ कि ये बेकार तुम्हारे किसी काम के नहीं इनका कोई अनुभव नहीं जिसने बहुत विवाह रचाए हो उसके पास जाना तो शायद कुछ कुंजी हाथ में संभाल दे दे दे जिनने दुकान कभी की नहीं उनसे पूछने चले गए इसमें कोई समझ नहीं मालूम होती तुम भागना चाहते हो तो तुम किसी भगोड़े को खोज लोगे और जिम्मेदारी उस पर डाल दोगे अब तुम निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक हम कोई भगोड़े नहीं धार्मिक है आदमी अच्छे शब्दों की ओढ़नी ओढ़कर सारे दुष्कृत किए चला जाता है संन्यास की ओढ़नी ओढ़ लेते हो लेकिन उस ओढ़नी के पीछे तुम क्या करते हो ये तो थोड़ा सोच कितना दुख छोड़ जाते हो पीछे और ये सारे बुद्ध पुरुष ये कह रहे हैं कि दूसरे को दुख देने से सुख न मिलेगा तुम अपनी पत्नी और बच्चों को भी सुख न दे पाए उनको भी तुम दुख न डाल गए और किसको तुम सुख दे पाओगे जो तुम्हारे बहुत पास है कम से कम उन्हें तो दो फिर दूर की सोचना फिर और बढ़ाना अपने प्रेम को लेकिन जो पास है उनसे ही तो मत छीनो लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग प्रेम करने में असमर्थ होते हैं वो मनुष्यता को प्रेम करते हैं अब मनुष्यता कहीं तो मिलती कहा खोजोगे मनुष्यता को जहां मिलेगा मनुष्य मिलेगा जहां मिलेगा व्यक्ति मिलेगा मनुष्यता तो कहीं मिलती नहीं जिनको प्रेम से बचना हो वो कहते हैं हम तो मनुष्यता को प्रेम करते हैं ये धोखेबाज ये इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम प्रेम करने में असमर्थ हैं इसलिए हमने बड़ा ढकोसला बनाया ऊंचा शब्द चुना मनुष्यता का प्रेम संसार को भी तुम प्रेम न कर पाए तुम निर्वाण को प्रेम कर सकोगे ज्ञान तो सीढ़ी सीढ़ी ऊपर उठता है तुम जहां हो वहां तुम शांत हो जाओ तत्म तुम पाओगे तुम ऊपर उठ गए तुम जहां हो वहीं शांत हो जाओ तुम पाओगे एक सीढ़ी पार हुई घर में होना एक शिक्षण संसार एक विश्वविद्यालय है और सस्ता नहीं मिलता कोई अनुभव कीमत चुकानी पड़ती इसलिए कलह भी है उपद्रव भी है अड़चन भी है चिंता भी है ये कीमत रही मेरी बात तो मैं तुम्हारे साथ आता हूं तुम जब भी अकेले होगे तो मुझे अपने साथ पाओगे तो लौट जाओ घर घड़ी भर को अकेले होने की प्रक्रिया जारी रखना घड़ी भर को द्वार दरवाजे बंद कर लेना भूल जाना पत्नी बच्चों को पत्नी बच्चे भी खुश होंगे क्योंकि तुम्हारा 24 घंटे छाती पे चढ़े रहना किसी को भी सुख नहीं दे रहा है वो भी घड़ी भर को बड़े प्रसन्न होंगे कि बड़ा अच्छा हो ध्यान कर रहे हैं बड़ा अच्छा कोई इससे दुखी होने वाला नहीं क्योंकि घड़ी भर को उनको भी फुर्सत मिलेगी तुमसे थोड़ा उनको भी अवकाश मिलेगा जगह मिलेगी घड़ी भर को तुम अकेले हो जाओ उस अकेलेपन में तुम मुझे पाओगे मेरे साथ संग बनने लगेगा मैं कल एक गीत पढ़ा बड़ा प्यारा गीत है माँ जल भरन न जाऊं कोई युवती अपनी माँ से कह रही माँ जल भरन न जाऊं जिधर बढ़ाऊं चरण उधर ही सांस लगा छाया सा डोले भीड़ देख जा छिपे आड़ में इकला पाते ही संग होले तरह तरह के रूपक रचकर ऐसा नाच नचाए मन को माँ जल भरन न जाऊं बिना सूत्र के पुतली नाचे बिना तार एक तारा बोले घट से तट तक थल से जल तक पर्ण कुटी से राजमहल तक कोई भी पथ नहीं जहाँ या हेरा फेरी करे न भोरा माँ जल भरन न जाऊ कृष्ण के लिए कहा गया की और बड़ा प्यारा तुम अगर मेरे पास ही आ गए हो तो तुम दूर ना जा सकोगे जल भरने जाओ कि ना जाओ साथ लगा छाया सा डोले भीड़ देख जा छुटे आड़ में इतना पाते ही संघोले जरा इतने होते रहना तरह तरह के रूप कर ऐसा नाच नचाए मन को माचल भरन नचाओ बिना सूत्र के पुतली नाचे बिना तार इकतारा बोले तुम जरा इकले होके बैठ जाना मेरा इकतारा बचने लगेगा तुमने अगर मुझे चाहा तुमने अगर मुझे प्रेम किया तो तुम जब भी अकेले होगे मुझे पाओगे इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता तुम्हारा प्रेम ही सब कर देगा तुम जिससे प्रेम करते हो अकेले होते ही उसकी याद आती और किसी की याद नहीं आती प्रेम की कसौटी यह है कि जब तुम अकेले हो तब उसकी याद आए खो जाते हो संसार में बाजार में भूल जाते हो लेकिन जब फिर अकेले हुए फिर उसकी याद आ जाती है प्रेम का लक्षण यही इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता मुझे कोई इंदौर तक आने जाने की टिकट का खर्च नहीं पड़ने वाला है तुमने अगर मुझे चाहा तुम्हारी चाहत सब लेगी बिना सूत्र के पुतली नाचे बिना तार के पितारा बोले घट से तट तक फल से जल तक पर्ण कुटी से महल तक कोई भी पथ नहीं जहाँ यह हेरा फेरी करे न भौरा माँ जल भरन न जाऊ जल भरने जाओ या ना जाओ तुम जहां जाओगे हेरा फेरी करे ये भौरा ये तुम्हारे चारों पर चक्कर लगाता ही रहेगा ये तुम्हारा ही भाव है ये तुम्हारी ही श्रद्धा है तुम इतने डरे क्यों हो अपनी श्रद्धा के प्रति तुम इतने अविश्वासी क्यों हो अपनी श्रद्धा के प्रति चलो हरी झंडी बताई हरी झंडी सही हाथ को पहचानो और जो तुमसे कह रहा हूं वो करो क्योंकि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वही करने में तुम मेरे निकट आओगे तुम अपनी जिद से यहाँ रुक सकते हो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम रुकना चाहो तो रुको लेकिन तुमने मुझे नहीं सुना फिर दोस्त मुझे मत देना अगर भटक जाओ यहाँ रुक के भी भटक जाओगे क्योंकि यहाँ रुके तुम मुझे बिना सुने और मैं तुमसे कहता हूँ तुम जाओ आते रहो कभी कभी मुझे तो तुम ज्यादा से ज्यादा इस नाम समझे आ गए कभी डुबकी लगा ली चले गए चौबीस तो घंटे नदी में मत डूबे रहो तो कोई सार नहीं बस कभी कभी काफी उतना भी तुम संभाल लो तो बहुत उतना भी तुम्हें ले जाए कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे अगर तुम बहुत ज्यादा मेरे पास रहो तो मुझे भूल ही जाओ पास रहने से भूल चूक होनी शुरू हो जाती है विस्मरण हो जाता है दूर रहने से याद बनी रहती दूरी को तुम प्रेम का दुश्मन मत समझना दूरी प्रेम की बड़ी मित्र है क्योंकि दूरी उठाती है प्रेम को जलाती है प्रेम को विरह को उठाती है पास ही जो है वो मिला ही है धीरे धीरे हम भूल जाते पास होने के कारण ही तुम परमात्मा को भूले हो पास ही होने के कारण तो तुम आत्मा को भूले हो दूर है इसलिए थोड़ी परमात्मा दूर है बहुत पास है तुमसे भी ज्यादा पास है इसलिए याद नहीं आता आखिरी सवाल आपने माला के धागे के पहचानने की बात कही मैं आपको काफी समय से सुन रहा हूँ मेरी समझ से आपकी माला का धागा साक्षी भाव है कृपा पूर्वक इस बात पर प्रकाश डाले ठीक पहचान साक्षी भाव मेरी ही माला का धागा नहीं सभी की माला का धागा है Buddha Krishna Christ Mahavir Zarathustra Lao Tzu सभी की माला का धागा है साक्षी भाव आखिरी बात पहली भी और अंतिम भी शुरू भी उसी से करना है और अंत भी उसी पर करना है पहला कदम आखिरी कदम समझने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कयामत कि दामाने यार छूटा जाए है मुझसे अरे निराशा ये कैसी जाति जरा मुझे संभल तो लेने दे प्रीतम के ध्यान का आंचल मेरे हाथ से छूटा जाए प्रेमी उसे प्रेम कहता है प्रेम का आंचल कहता है छूट ना जाए हाथ ज्ञानी उसे ध्यान कहता है भक्त उसे प्रभु की याद कहता है नाम स्मरण कहता है ज्ञानी उसे स्मृति कहता है आत्मबोध कहता है लेकिन बात वही है कि प्रभु का या स्वयं का बोध न खो जाए कुछ तुम्हारे भीतर जो शाश्वत है वो वही शरीर भी गलेगा मिटेगा मन भी जाएगा शरीर भी संगठन है पांच तत्वों का और मन भी संगठन है उधार विचारों का वासनाओं का दोनों पिघल जाएंगे खो जाएंगे तुम्हारा होना न तो शरीर में है न मन में है तुम्हारा होना तो उसमें है जो शरीर और मन के पार खड़ा हो जाता दोनों को देख लेता शरीर का साक्षी हो जाता मन का साक्षी हो जाता गायक के अधरों पर है ऐसा एक गीत चुप होकर भी जो युग युग गाया जाता है चुप होकर भी जो युग युग गाया जाता है मुरझाते उपवन में भी है ऐसा एक फूल जिसके तन को पतझार नहीं छू पाता है सांसों के घर में एक सांस ऐसी रहती मरघट का सोना भी न जिसे भर सकता है मिट्टी की पुतली में है ऐसा एक स्वप्न जिसके कारण इंसान नहीं मर सकता है तुम्हारे भीतर उसे खोजो जिसके पार तुम न जा सको जिसके पीछे तुम न हट सको जहां तक हट सको जिसके पीछे न हट सको तुम आंख बंद करो अपने शरीर को देख सकते हो हाथ हिलाओ तुम देख सकते हो हाथ हिल रहा है सिर में दर्द हो तुम देख सकते हो भीतर सिर दर्द हो रहा है तुम अलग हो पीछे खड़े हो विचार चले सूक्ष्मतम विचारों की तरंगें चले अच्छी या बुरी तुम उन्हें भी देख सकते हो तुम देखने वाले हो तुम साक्षी हो अब इस साक्षी के पीछे तुम ना हट सकोगे क्योंकि साक्षी को भी देखोगे तो साक्षी ही रहोगे साक्षी के साक्षी को भी देखोगे तो साक्षी ही रहोगे शरीर को हट गए शरीर न रहे मन से हटे मन न रहे साक्षी से नहीं हट पाते साक्षी ही रहते हो ये परम सूत्र मिल गया ये वो गीत मिल गया जिसकी बात है गायक के अधरों पर ऐसा एक गीत चुप होकर भी जो योग योग गाया जाता है मुरझाते उपवन में है ऐसा एक फूल जिसके तन को पटझार नहीं छू पाता वही तुम्हारा साक्षी भाव है वही समस्त बुद्ध पुरुषों की मालाओं का सूत्र है उस साक्षी भाव में सारे शून्य हो जाते उस साक्षी भाव में अंधेरा और प्रकाश दोनों शून्य हो जाते हैं क्योंकि तुम दोनों से पीछे हट जाते तुम अंधेरे के भी देखने वाले प्रकाश के भी देखने वाले शुभ और अशुभ दोनों शांत हो जाते तुम दोनों के देखने वाले संसार और निर्वाण दोनों शांत हो जाते तुम दोनों के देखने वाले सब निमज्जित हो जाता है उससे मोहब्बत सोच भी है साज भी है खामोशी भी है आवाज भी है प्रेम कभी खामोश है कभी बोलता है लेकिन साक्षी भाव दोनों के पार है न तो खामोश न बोलता इसलिए बड़ा कठिन है कहना कि साक्षी भाव क्या है खामोश होता कह देते खामोश है बोलता कह देते बोलता है लेकिन न बोलता है न खामोश है दोनों के पार है किसका कुर्ब कहा की दूरी अपने आप से गाफिल हो राज अगर पाने का पूछो खो जाना ही पाना है किसका सामीप्य किसका कुर्ब किसके पास जाने की सोच रहे हो किस परमात्मा की खोज पर निकले हो किसका कुर्ब कहा की दूरी अपने आप से गाफिल हो न कोई दूरी है न परमात्मा दूर है न उसकी समीपता खोजनी बस अपने आप से बेहोश साक्षी नहीं हो जागे नहीं हो राज अगर पाने का पूछो खो जाना ही पाना है साक्षी भाव में तुम भी ना बचोगे क्योंकि तू और मैं दोनों के तुम साक्षी हो जाओगे यहां देखो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो अगर तुम साक्षी बनो तो तुम बोलने और सुनने दोनों के पार हो गए तुम अपने सुनने के भी साक्षी हो जाओगे जैसे तुम मेरे बोलने के साक्षी हो वैसे ही अपने सुनने के भी साक्षी हो जाओगे तुम कहोगे आप बोल रहे मैं सुन रहा लेकिन कोई दोनों के पार है इस पार को पकड़ो इस अतिक्रमण के सूत्र को पकड़ो यही दामाने यार है यही उस प्रेमी का आंचल है साक्षी समस्त शास्त्रों का सार है सा, साक्षी समस्त कही गई न कही गई उपदेशनाओं का सार है साक्षी के लिए अलग अलग शब्द उपयोग किए गए हैं लेकिन भाव को पकड़ लो भाव इतना ही है कि तुम दृश्य से छूटते जाओ और दृष्टा में डूबते जाओ जो दिखाई पड़े जानना अलग है भिन्न है पृथक है जो देखे जानना यही मैं हूं और धीरे धीरे उस जगह आ जाना जिसके पार जाने का उपाय ना हो जहां दृष्टा ही दृष्टा बचे देखने को कुछ ना बचे जहां साक्षी ही साक्षी बचे जहां एक ही स्वाद बचे तुम्हारे भीतर साक्षी का जैसे सागर का जल सब जगह खारा है कहीं से भी चखो तुम उठो बैठो चलो सो बोलो न बोलो घर में मंदिर में मस्जिद में बाजार में हिमालय पर कहीं भी रहो तुम्हारा स्वाद साक्षी का हो जाए बस हाथ में आ गया प्यारे का आंचल पकड़ ली रहा है उठ गया पहला कदम और इस जगत में पहला कदम ही आखिरी कदम भी है आज इतना ही